ए पैगंबर इन मुशरिकों से कहो कि कौन है जो तुम्हें आसमान और ज़मीन से रिस्क पहुंचाता है या भला कौन है जो सुनने और देखने की कुव्वतों का मालिक है और कौन है जो जानदार को बेजान से और बेजान को जानदार से बाहर निकाल लाता है और कौन है जो हर काम का इंतजाम करता है तो ये लोग कहेंगे कि अल्लाह तो तुम इनसे कहो कि क्या پھر بھی تم اللہ سے نہیں ڈرتے